और न तुम अंधों को उनकी गुमराही से बचाकर रास्ते पर ला सकते हो तुम तो उन्हीं लोगों को अपनी बात सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाएं फिर वही लोग फर्माबरदार होंगे